कठोपनिषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर 16 भाग 1 कामनाओं का विसर्जन संबंध में ये सूत्र अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत गहन है यह स्वाभाविक भी है क्योंकि परमात्मा का अस्तित्व स्वयं आत्यंतिक गहराई है उससे गहरा फिर कुछ और नहीं उससे अंतहीन फिर कुछ और नहीं उससे आदिहीन फिर कुछ और नहीं उसके पार फिर कुछ और नहीं उसे फिर कुछ और लांग नहीं पाता अतिक्रमण नहीं कर पाता स्वभावता उस सत्य के संबंध में जो भी कहा जाएगा वो उतना ही गहरा उतना ही अंतहीन उतना ही अनंत होगा जैसा परमात्मा है एक बहुत अद्भुत ईसाई फकीर हुआ है तरतुलियन तरतुलियन का एक वक्तव्य समझने जैसा है फिर हम इस सूत्र में प्रवेश करें तरतुलियन ने कहा है कि मैं ईश्वर में भरोसा इसलिए करता हूं कि ईश्वर किसी भी तर्क से सिद्ध नहीं होता है बड़ा उल्टा वक्तव्य है हम भरोसा करते हैं उस बात में जो किसी तर्क से सिद्ध होती हो तरतुलियन कहता है ईश्वर में मेरा भरोसा है क्योंकि वो अतर्क वो किसी तर्क से सिद्ध नहीं होता सच तो यह है कि ईश्वर से ज्यादा अविश्वसनीय और कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर की धारणा असंभव है ईश्वर की कल्पना ही असंभव है उस दिशा में सोचने के सब प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं उसकी खोज करते करते खोजने वाला ही मिट जाता है वो असंभव में प्रवेश है तरतुलियन कहता है I believe in God because God is absurd तर्कहीन है बेबूज है किसी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता इसीलिए ही विश्वास करता हूं तब विश्वास का फिर और क्या आधार होगा विश्वास का आधार अगर तर्क ना हो विचार ना हो मनन ना हो चिंतन ना हो तो फिर विश्वास का आधार सिर्फ हृदय ही हो सकता है जिससे आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं कोई तर्क नहीं होता और अगर कोई तर्क करने चले तो आप सिद्ध न कर पाएंगे कि आपके प्रेम का कारण क्या है और जो भी बातें आप कहेंगे वस्तुतः आसार होंगी जैसे आप कहेंगे कि जिस व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूं वो बहुत सुंदर है लेकिन किसी और को वो सुंदर मालूम नहीं पड़ता बस आपको ही मालूम पड़ता है सच्चाई कुछ उल्टी है आप सुंदर है इसलिए प्रेम करते हैं ऐसा नहीं है आप प्रेम करते हैं इसलिए वो व्यक्ति सुंदर दिखाई पड़ता है आपके प्रेम ने ही उसे सुंदर बना दिया है सौंदर्य कोई वस्तुगत घटना नहीं है आपके हृदय का भाव हम सुंदर को प्रेम नहीं करते हम जिसे प्रेम करते हैं वो सुंदर हो जाते हैं प्रेम हर चीज को सुंदर कर देता है प्रेम जिसको भी घेर लेता है उसे सुंदर कर जाता इसलिए प्रेमी को प्रेस ही सुंदर दिखाई पड़ती शेष किसी को ना भी दिखाई पड़े कोई तर्क सिद्ध न कर पाएगा कि प्रेम क्यों है और जो भी बातें आप कहेंगे वो पीछे से सोची गई होंगी प्रेम की घटना पहले घट जाएगी फिर आप सोचेंगे रेशनलाइज करेंगे तर्क खोजेंगे कि क्यों मैं प्रेम में हूं लेकिन क्या गणित की तरह किसी ने कभी कोई प्रेम किया है कि पहले सब सोचा हो सब तर्क बिठाया हो निष्पत्ति निकाली हो निष्कर्ष हाथ में लिया हो फिर प्रेम किया हो आदमी प्रेम पहले करता है कारण पीछे खोजता है तो जो कारण पीछे खोजे जाते हैं वो कारण हो ही नहीं सकते कारण तो पहले खोजे जाने चाहिए प्रेम तर्क से निष्पन्न नहीं होता प्रेम हार्दिक घटना है और हार्दिक घटना का अर्थ होता है जिसे हम अनुभव करते हैं कि है और जिसके लिए हम कोई उत्तर नहीं दे सकते जिसे हमारे पूरे प्राण कहते हैं कि है लेकिन जिसे हम किसी दूसरे को समझा नहीं सकते कि क्यों जिसके लिए कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता और फिर भी जिसके लिए हम मरने को तैयार हो सकते हैं हार्दिक घटना का अर्थ यह है जिसके लिए हम मरने को तैयार हो सकते हैं और जिसके लिए कोई तर्क पास में नहीं होता निश्चित ही जिसके लिए हम अपना जीवन खो सकते हैं वो हमारे जीवन से बड़ा होगा वो हमारे पूरे जीवन को घेर लेता होगा लेकिन उसके लिए हम कोई तर्क नहीं दे पाते तार्किक किसी चीज के लिए कभी जीवन नहीं दे सकता तर्क के किसी सिलोजिज्म तर्क की किसी प्रक्रिया में कभी कोई जीवन नहीं दे सकता गलेलियो ने पहली दफा कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है सूरज पृथ्वी का नहीं एक तर्क निष्पत्ति थी और बिल्कुल सही थी लेकिन ईसाइत ने विरोध किया रोम खिलाफ हो गया सारा ईसाइयों का फैला हुआ जाल गलेलियों की बात स्वीकार करने को राजी नहीं था क्योंकि बाइबल में कहा है कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता सारी दुनिया के लोग मानते रहे हैं कि सूरज दुनिया का चक्कर पृथ्वी का चक्कर लगाता दिखाई भी यही पड़ता है सुबह उगता है पूरब सांझ डूबता है पश्चिम फिर पूरब उगता है चक्कर लगाता हुआ मालूम पड़ता है के बाद भी सारी दुनिया की भाषाओं में शब्द तो वही है सूर्योदय सूर्यास्त न तो सूर्य का कोई उदय होता है ना अस्त होता है सिर्फ पृथ्वी चक्कर लगाती पूरी अपनी जगह न उगता है न डूबता है पृथ्वी ही उसके आसपास घूमती है गैलीलियो ने जब पहली दफा यह बात कही तो उसने तर्क से पूरी तरह सिद्ध कर दी लेकिन पोप ने उसे बुलाया और कहा कि तुम क्षमा मांग लो अन्यथा तुम्हारे जीवन तुम्हारे जीवन को खतरा है गैलीलियो ने घुटने टेक के क्षमा मांग ली ये बड़ी कठिन बात रही है और विचारशील लोग सोचते रहे कि गैलीलियो जैसा प्रतिभा संपन्न आदमी क्या अपने जीवन के लिए डर गया लेकिन मैं सोचता हूं कि जीवन के लिए गलीलो नहीं डरा वो अपना जीवन दे सकता था लेकिन एक छोटे से तर्क के लिए कौन जीवन देने को तैयार होता इससे क्या फर्क पड़ता है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता गैलीलियो क्यों जीवन दे इस व्यर्थ की बकवास के लिए किस ये गैलीलियो के लिए हार्दिक नहीं था बुद्धिगत था उसने देखा कि इतनी सी बात के लिए कि, कि पृथ्वी चक्कर लगाती कि नहीं लगाती मैं क्यों जीवन दू मैं मानता हूं गलीलो बुद्धिमान आदमी था कोई बुद्धू होता तो शायद मरने को तैयार हो जाता क्योंकि तर्क के लिए कोई बुद्धू ही मर सकता तर्क तर्क का इतना मूल्य ही नहीं है गणित की एक निष्पत्ति के लिए कौन अपना जीवन देने को तैयार होगा आखिर जीवन का मूल्य बहुत ज्यादा है लेकिन एक छोटे से प्रेम के लिए आदमी पूरे जीवन को दे सकता है प्रेम पूरे जीवन को घेर लेता है पूरे अस्तित्व को पकड़ लेता है तर्क तो केवल बुद्धि के कोने को पकड़ता है आज तक बुद्धि के लिए किसी ने जीवन नहीं दिया है और जिस चीज के लिए आप जीवन नहीं दे सकते वस्तुता उसका जीवन से ज्यादा मूल्य नहीं हो सकता मनुष्य के अनुभव में प्रेम एकमात्र अनुभव है जिसके लिए वो जीवन दे सकता है जो जीवन से ज्यादा मूल्यवान है लेकिन प्रेम अतर्क है लोगों ने परमात्मा के लिए जीवन दिया है न मालूम कितने लोग शहीद हुए हैं परमात्मा के लिए जिन्होंने जीवन को चुपचाप खो दिया है जिन्होंने रत्ती भर भी शिकायत नहीं की कि जीवन जा रहा है परमात्मा कुछ प्रेम जैसा मामला है इसलिए तरतुलियन ठीक कहता है कि मानने का कोई कारण नहीं मानना असंभव है फिर भी मैं परमात्मा को मानता हूं ये कुछ हार्दिक घटना है ये कुछ प्रेम का नाता है ये संबंध बुद्धि से कहीं बहुत गहराई से आ रहा है अब हम इस सूत्र में प्रवेश करें वह परब्रह्म परमेश्वर न तो वाणी से न मन से और न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है वह परमात्मा ना तो वाणी से कोई कितना ही समझाए उसकी समझ नहीं आ सकती कोई कितनी ही कुशलता से समझाए कोई बिल्कुल मन में बिठा दे ऐसा बिठा दे कि आप जवाब भी ना दे पाए आप उत्तर भी ना दे पाए आपको मानने को राजी भी होना पड़े क्योंकि तर्क आपके पास ना हो तो भी ध्यान रहे जब आप अतर्क हो जाते हैं जब आप उत्तर नहीं दे पाते तब भी हृदय अनकन्विंस्ड ही रहता है तब भी हृदय राजी नहीं होता एक व्यक्ति आपकी बुद्धि को खंडित कर सकता है लेकिन आपके हृदय को नहीं छू सकता एक बड़ा तार्किक आपकी सारी मान्यताएं तोड़ दे आप पराजित भी हो जाएं तो भी आप राजी नहीं हो पाते भीतर हृदय तो कहता ही रहता है कि मैं राजी नहीं हूं तर्क से कभी कोई राजी नहीं हो सकता है हार सकता है जीत सकता है लेकिन कन्विक्शन हृदय की आस्था तर्क से पैदा नहीं होती इंगरसोल ने कहीं लिखा है अपने पत्रों में क्या आप उसी आदमी को तर्क से राजी कर सकते हैं जो पहले से ही राजी हो व्यर्थ है तर्क उसको ही राजी कर सकते हैं जो पहले से ही राजी था वो राजी होने को तैयार ही था लेकिन जो राजी नहीं है उसे तर्क से आप छू भी नहीं सकते तर्क ऊपर ऊपर चला जाता है वो जीवन के गहन में प्रवेश नहीं करता वाणी कर क्या सकती ज्यादा से ज्यादा तर्क कर सकती वाणी मनोरंजन कर सकती है वाणी प्रीतिकर लग सकती है काव्यात्मक हो सकती है सुखद मालूम पड़ सकती लेकिन वाणी के कारण उस अस्तित्व के प्रति नहीं लग सकती वाणी के धनी तो बहुत हुए और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने नहीं जाना था उन्होंने जाना हो तो भी तो भी वाणी से वे किसी को भी राजी नहीं कर पाते बुद्ध की भी सामर्थ्य नहीं है कि आपको शब्दों के द्वारा राजी कर पाए बुद्ध भी जब आपको राजी करते हैं तो आपको मौन के लिए पहले तैयारी करवाते वो भी समझाने के पहले आपको शांत और मौन कर देते हैं वो भी वाणी से हल नहीं कर पाते इसलिए बुद्ध तो इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट थे वो लोगों के प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देते थे वो कहते थे इसके पहले कि तुम्हें उत्तर दूं तुम्हें चुप होना सीखना पड़ेगा एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष तुम मेरे पास चुप होकर रहो जब तुम्हारी चुप्पी बिल्कुल पूरी हो जाएगी तब मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा लेकिन निरंतर यह होता है कि जिस आदमी का मौन पूरा हो जाता वो फिर प्रश्न ही ना उठाता मौन में ही बुद्ध वस्तुता उसे उत्तर दे देते जो वाणी से नहीं कहा जा सकता वो मौन से कहा जा सकता है क्योंकि मौन मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करता सीधे हृदय में चला जाता है शब्द तो सिर में टकरा के लौट जाते मौन मौन से बहती हुई जीवनधारा अबाध रूप से आपके हृदय में प्रवेश कर जाती शब्द का ज्यादा से ज्यादा इतना ही उपयोग हो सकता है कि कोई आपको मौन करने के लिए राजी कर ले बस इतना ही शब्द से हो जाए कि आप निशब्द होने को राजी हो जाएं तो शब्द का काम पूरा हो जाता लेकिन परमात्मा वाणी से नहीं पाया जा सकता न मन से पाया जा सकता है न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है मन सोचता है मनन की प्रक्रिया का नाम मन जहां हम विचार करते हैं सोचते हैं चिंतन करते हैं मनन करते हैं उस प्रक्रिया का नाम मन लेकिन सोचने का एक तत्व ठीक से समझ लें कि आप उसी को सोच सकते हैं जिसे आप जानते हो जिसे आप जानते ही नहीं उसे सोचेंगे कैसे ज्ञात को ही सोचा जा सकता है द नोन वो जो पहले से पता है उसको आप सोच सकते हैं जो पता ही नहीं है उसको सोचेंगे कैसे तो सोचना जुगाली की तरह है तो गाय भैंस पहले तो भोजन ले लेती आहार ले लेती फिर उसी आहार को निकाल निकाल के बैठ के जुगाली करती रहती मन जुगाली करता है जो पहले डाल दिया गया है जो ज्ञात हो गया है बस उसी को बार बार सोचता रहता है अज्ञात से अननोन से मन का कोई संबंध नहीं हो भी नहीं सकता जो ज्ञात ही नहीं है उसमें सोचना शुरू कैसे होगा एक अर्थ में सोचना पुनरुक्ति है सोचना सदा बासा है वो कभी ताजा नहीं होता और सोचना हमेशा पीछे की तरफ लौटना है अतीत की तरफ सोचना स्मृति की ही पुनरुक्ति है जो स्मृति में पड़ा है उसी की जुगाली है और परमेश्वर तो अज्ञात है उसका हमें कोई भी पता नहीं उसे हम सोचेंगे कैसे इसलिए मन से परमात्मा का कोई संबंध नहीं जुड़ता है और जब तक मन मौजूद है तब तक आप उससे टूटे रहेंगे जिस दिन मन खो जाएगा उस दिन आप उससे जुड़ जाएंगे मन ही आपके और उसके बीच दीवार है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि मन ही नहीं होता कि ध्यान करें मैं उनको कहता हूं कि मन तो कभी भी नहीं होगा कि ध्यान करें क्योंकि मन तो ध्यान का दुश्मन है मन तो हजार तरकीबें समझाएगा कि मत करो कि ये तुम क्या कर रहे हो ये पागलपन है कि चुप होने से क्या होगा कि सोचोगे नहीं तो भटक जाओगे कि अपनी बुद्धि को संभालो अपने तर्क को बचाओ ऐसा किसी की बात में पड़ जाना ठीक नहीं मन तो हजार तर्क देगा कि ध्यान मत करो क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु ध्यान किया कि मन मरा इसलिए मन अपनी सुरक्षा करेगा सब तरह से सुरक्षा करेगा और आपका भी मन वही करता है 25 कारण खोज लेता और उन कारणों की वजह से फिर ध्यान करने से रुक जाता और कभी कभी इतने क्षुद्र कारण खोज लेता है कि कोई देखेगा क्या कहेगा ऐसे क्षुद्र कारण सोच के भी रुक जाता है ये जो मन के रुकने की वृत्ति है ये स्वाभाविक है मन के लिए क्योंकि मन जानता है कि ध्यान का मतलब है खाई में उतर जाए फिर वहां से मन अछूता नहीं लौटेगा मन बचेगा नहीं जेन फकीर ध्यान को कहते हैं स्टेट ऑफ नो माइंड मन के खो जाने की अवस्था अमन की अवस्था उपनिषद का यह सूत्र भी वही कह रहा है कि न तो वाणी से मिलेगा और न मन से मिलेगा ना नेत्रों से ही इंद्रियों से कोई कितना ही खोजता रहे इंद्रियों से केवल पदार्थ का संपर्क होता है प्रत्येक वस्तु की सीमा है जैसे आप आंख से सुन नहीं सकते देख सकते कान से आप देख नहीं सकते सुन सकते लेकिन कोई आदमी आंख से सुनने की कोशिश करे तो मुश्किल में पड़ जाएगा आंख की सीमा है कि वो देख सकती है कान की सीमा है कि वो सुन सकता है हाथ की सीमा है कि वो छू सकता है नाक की सीमा है कि वो गंध ले सकती लेकिन एक इंद्री एक ही काम कर सकती वो काम आप दूसरी इंद्री से नहीं ले सकते वो दूसरी इंद्री की क्षमता नहीं मन का काम है वो मनन कर सकता है मनन का अर्थ है स्मृति में पड़ा हो तो उसे दोहरा सकता है मन एक कंप्यूटर की तरह है उसे पहले फीड करना होता है उसे पहले आप दे दें भोजन फिर उसको जुगाली करता रहता अब तो बड़े अद्भुत कंप्यूटर बने हैं जो आदमी के मन से भी ज्यादा काम कर सकते हैं बड़े से बड़ा वैज्ञानिक जो काम वर्षों में करेगा वो कंप्यूटर सेकंड में कर सकता है लेकिन एक बड़ी मुश्किल है कंप्यूटर के साथ कि पहले उसके उसमें डालना पड़ता है जो उसे सोचने के लिए आपको देना है उसको फीड करना पड़ता है अगर आप कुछ भी ना डालें तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता मन में भी पहले डालना पड़ता है समझें कि आप हिंदू हैं हिंदू होने का क्या मतलब है कि हिंदू धर्म फीड किया गया है और तो कुछ मतलब नहीं कि आप मुसलमान हैं कि आप जैन हैं कि बौद्ध हैं इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आपके कंप्यूटर को बचपन से ही जैन धर्म डाला गया है तो वो वही वही सोचता रहता है एक किसी के कंप्यूटर में हिंदू धर्म है किसी के कंप्यूटर में मुसलमान धर्म है वो वही वही सोचता रहता बस उसकी जुगाली चलती रहती और आप भूल से समझते हैं कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं ईसाई हैं आप कुछ भी नहीं हैं आदमी सिर्फ आदमी की तरह पैदा होता है बाकी तो सब व्यवस्थाएं डाली जाती है मन तो समाज के द्वारा पैदा किया जाता है अगर आप हिंदू घर में पैदा हुए और बचपन में ही उठा के आपको मुसलमान के घर में रख दिया जाता तो आप मुसलमान होते हिंदू नहीं और आप कुरान को नमस्कार करते और गीता को जला देने की इच्छा रखते आप ही ये सब इच्छाएं कहां से आती ये दूसरे आपको सिखा रहे हैं इसलिए सभी धर्मों के लोग बच्चों को पकड़ लेते हैं पहले ही सभी धर्म उत्सुक होते हैं कि बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए एक बार बच्चा धर्म की शिक्षा से बच गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सात साल के पहले ही जबकि बोध सजग नहीं होता बच्चे की खोपड़ी में सब भर देना चाहिए फिर वो जिंदगी भर उसकी जुगाली करता रहेगा हिंदू अगर आप हैं तो हिंदू मंदिर के सामने हाथ उठ जाएंगे ये यांत्रिक ये कंप्यूटर का काम ये आपको सिखाया गया कि भगवान यहां रहता है मस्जिद के सामने से आप अकड़ के निकल जाएंगे मस्जिद का ख्याल ही नहीं आएगा कि वहां भी भगवान रहता है वहां किसी और को ख्याल आता है जिसके कंप्यूटर में वो बात डाली गई कि इस्लाम ही असली धर्म हमें सिखाया जा रहा है जो हमें सिखाया जाता है वही हम सोचते रहते हैं और परमात्मा सिखाया नहीं जा सकता उसके सिखाने का कोई उपाय ही नहीं इसलिए परमात्मा सोचा भी नहीं जा सकता लेकिन आप कहेंगे कि हम परमात्मा के संबंध में सोचते नहीं आप हिंदू परमात्मा के संबंध में सोचते हैं मुसलमान परमात्मा के संबंध में सोचते हैं ईसाई परमात्मा के संबंध में सोचते हैं परमात्मा के संबंध में नहीं और ईसाई परमात्मा मुसलमान हिंदू परमात्मा परमात्मा है ही नहीं वो केवल शब्द हैं जो आपके मन में डाल दिए गए परमात्मा तो निशब्द है वो अस्तित्व है उसे कोई आपको सिखा नहीं सकता है परमात्मा का कोई शिक्षण नहीं हो सकता इसलिए कोई विद्यालय नहीं हो सकता जहां हम बच्चों को परमात्मा के लिए प्रशिक्षित कर दें काश इतना आसान होता तो सारी दुनिया परमात्मा से भर जाती विज्ञान सिखाया जा सकता है धर्म सिखाया नहीं जा सकता यही अड़चन है इसलिए हम वैज्ञानिक पैदा कर सकते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स गणित सिखाए जा सकते हैं प्रार्थना सिखाई नहीं जा सकती मगर हम सिखाते हैं प्रार्थना भी इसलिए सब प्रार्थनाएं झूठी हो जाती प्रेम सिखाया नहीं जा सकता आप कोई विद्यालय खोल दें और लोगों को प्रेम करना सिखा दें अगर आपने सिखा दिया तो एक बात पक्की है कि जो भी उस विद्यालय से निकलेंगे कभी प्रेम ना कर पाएंगे क्योंकि प्रेम इतनी हार्दिक बात है और सीखना मस्तिष्क में घटता है इसलिए अक्सर यह होता है कि अभिनेता जो प्रेम का ही धंधा करते हैं कभी प्रेम नहीं कर पाते अभिनेताओं का खुद का प्रेम जीवन अत्यंत दुखद है मैं जानता हूं उनको बहुत निकट से जब भी अभिनेता मेरे पास आते हैं तो उनकी तकलीफ प्रेम की है और सारी दुनिया उनसे प्रेम करना सीख रही है वो अभिनय में कुशल हो गए वो जानते हैं क्या क्या करना चाहिए और वही वही वो अपनी प्रेसियों के साथ या अपने प्रेमियों के साथ भी करते हैं लेकिन वो अभिनय ही होता है भीतर कोई हृदय नहीं होता वे कुशल हैं क्या कहना है क्या बोलना है कैसे उठना बैठना है कैसे किसी को हृदय से लगाना वो सब जानते हैं जहां तक प्रक्रिया का टेक्निकल अंग है वो सब जानते हैं लेकिन प्रेम कोई टेक्निक नहीं प्रेम तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल है वो तो हृदय का आविर्भाव है तोलस्ताय ने एक छोटी सी कहानी लिखी तलस्ता ने लिखा है कि झील के किनारे तीन फकीर थे तीनों बेपढ़े लिखे थे लेकिन उनकी बड़ी ख्याति हो गई और दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने को आने लगे तो रूस का जो सबसे बड़ा पुरोहित था उसके कानों में भी खबर पहुंची कि तीन पवित्र पुरुष झील के उस पार है और उसने कहा कि मुझे उनका पता ही नहीं और उन्होंने कभी चर्च में दीक्षा भी नहीं ली वो पवित्र हो कैसे सकते हैं और हजारों लोग वहां जा रहे हैं और दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं तो वो भी देखने गया कि मामला क्या है नाव पर सवार हुआ झील के उस पार पहुंचा वो तीनों तो बिल्कुल बेपढ़े लिखे गंवार थे वो अपने झाड़ के नीचे बैठे थे जब महापुरोहित उनके सामने गया तो उन तीनों ने झुक के उसको प्रणाम किया महापुरुष तभी आश्वस्त हो गया कि कोई डर की बात नहीं जब तीनों पर चरण छू रहे हैं इनसे कोई ईसाई धर्म को खतरा नहीं उस महापुरुष ने कहा कि तुम क्या करते हो क्या है तुम्हारी साधना तुम्हारी पद्धति क्या है उन्होंने कहा पद्धति वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे पुरोहित ने कहा बोलो तुम करते क्या हो तुमने साधा क्या है तो उन्होंने कहा कि हम ज्यादा तो कुछ भी जानते ही नहीं पढ़े लिखे हम है नहीं किसी ने हमें सिखाया नहीं हमारी तो एक छोटी सी प्रार्थना है वही हम करते हैं पर वो बड़े संकोच में भर गए कि इतने बड़े पुरोहित को कैसे और उन्होंने कहा फिर प्रार्थना भी हमारी खुद की ही गढ़ी हुई क्योंकि हमने किसी से सीखा नहीं और किसी ने हमें कभी बताया नहीं क्या है तुम्हारी प्रार्थना पुरोहित तो अकड़ता चला गया उसने कहा तो बिल्कुल ही गंवा है क्या है तुम्हारी प्रार्थना उन्होंने कहा कि बाप से हम कैसे कहें बड़ी छोटी सी है हमने सुन रखा है कि परमात्मा तीन है ट्रिनिटी त्रिमूर्ति ईसाई मानते हैं तीन है परमात्मा परम परमपिता उसका बेटा जीसस और दोनों के बीच में एक पवित्र आत्मा होली घोष्ट इन तीन के जोड़ से परमात्मा बना है ट्रिनिटी जैसा हम त्रिमूर्ति मानते हैं शंकर विष्णु ब्रह्म तो उन्होंने कहा कि हमने एक प्रार्थना बना ली सोच सोच के तीनों ने हमारी प्रार्थना यह है कि you are three we are also three have mercy on तुम भी तीन हो हम भी तीन हैं हम पे कृपा करो उस पुरोहित ने कहा कि बंद करो ये ये कोई प्रार्थना है प्रार्थना तो अथराइज होती है चर्च के द्वारा उसके लिए स्वीकृति और प्रमाण होना चाहिए तो मैं तुम्हें प्रार्थना बताता हूं इसको याद करो और आज से ये प्रार्थना शुरू करो उन्होंने कहा आपकी कृपा बता दें महापुरोहित ने लंबी प्रार्थना थी चर्च की वो बताई उन लोगों ने कहा कि क्षमा करें हम बिल्कुल गंवार हैं इतनी लंबी याद ना रहेगी आप थोड़ा संक्षिप्त कर दें कुछ थोड़ा सरल पुरोहित ने कहा कि ना तो ये सरल हो सकती है और ना संक्षिप्त यह प्रमाणित प्रार्थना है और जो इसको नहीं करेगा उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद तो उन्होंने कहा एक दफा आप फिर से दोहरा दें ताकि हम याद कर लें दोबारा कही फिर भी उन्होंने कहा एक बार और सिर्फ दोहरा दें और तीनों ने दोहराने की भी कोशिश की और उन्होंने धन्यवाद दिया पुरोहित को फिर चरण छुए पुरोहित प्रसन्न नाव पर वापस लौटा आधी झील में आया था कि देखा कि पीछे से बवंडर चला आ रहा है पानी तो घबराया कि क्या चला आ रहा है थोड़ी देर में साफ हुआ कि वो तीनों पानी पर दौड़ते चले आ रहे पुरोहित के तो प्राण निकल गए वो पानी पे चल रहे हैं और तीनों आके पास पकड़ के बोले कि एक बार और दोहरा दे वो हम भूल गए हम गरीब बेपढ़े लिखे लोग उस पुरोहित ने कहा कि क्षमा करो तुम्हारी प्रार्थना काम कर रही है तुम अपनी वही जारी रखो कि we are three you are three have mercy मर्सियानस प्रेम एक हार्दिक घटना है न तो उसकी कोई प्रमाणिक व्यवस्था है न कोई विधि न कोई तंत्र न कोई मंत्र प्रेम एक हार्दिक भाव है प्रार्थना एक हार्दिक भाव उसे सिखाने का कोई भी उपाय नहीं और पृथ्वी पर चूंकि सभी धर्म सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए लोग अधार्मिक हो गए सिखाने से कभी भी कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकता इसलिए सूत्र कहता है न मन से न नेत्रों से उसे प्राप्त किया जा सकता है इंद्रियों की क्षमता नहीं अदृश्य को देखने की वे दृश्य को देखने के लिए बनाई गई और परमात्मा अदृश्य मन की क्षमता नहीं अज्ञात को समझने की ज्ञात उसकी सीमा है और परमात्मा अज्ञात है और वाणी की क्षमता नहीं उसको प्रकट करने की जो मौन में उपलब्ध होता है वाणी उसे ही प्रकट कर सकती है जो वाणी से निष्पन्न है और परमात्मा मौन में उपलब्ध होता है दूसरा हिस्सा इस सूत्र का बड़ा अद्भुत है वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को वह किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है जो सरलता से कहता है वह है कहता है नहीं जो अनुभव करता है कि वह है बिना किसी कारण के बिना किसी तर्क के बिना इंद्रियों की गवाही के बिना मन के मनन के और बिना वाणी से लिए गए उपदेशों से जिसका हृदय कहता है वह है बस ऐसे पुरुषों के अतिरिक्त वो और किसको उपलब्ध हो सकता है पर ऐसी अवस्था कैसे आएगी ये तो बहुत जटिल बात हो गई अगर हो तो ठीक और ना हो तो अगर ऐसा लगे तो ठीक कि वह है लेकिन ऐसा न लगे तो फिर करने को क्या बचता है विधायक रूप से करने को कुछ भी नहीं बचता सिर्फ निषेधात्मक रूप से करने को कुछ बचता है अगर आपको लगता है वह है ऐसी श्रद्धा जन्मती ऐसे उसके अस्तित्व की प्रतीति आपको होती ऐसा आपके हृदय में स्फुरना होती कि वह है तब तो ठीक तब तो मार्ग बहुत सुगम है अगर नहीं होती और कभी लाख में एकाध को ऐसी सहज प्रतीति होती अधिकांश को तो प्रतीति नहीं होती कि वो है इसलिए तो वो तर्क खोजते हैं प्रमाण खोजते हैं कि कोई सिद्ध कर दे कोई बता दे कोई इशारा कर दे कोई दर्शन करवा दे कोई गुरु मिल जाए कोई मार्गदर्शक हो जो दिखा दे मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमें परमात्मा को दिखा दे जैसे कि परमात्मा कोई चीज है उनको मैं बता दूं कि ये रही कि तो उनके हाथ में दे दूं कि लो संभालो और देख लो वो कहते हैं हमें तो जब तक दिखा ना देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं बड़ी मुसीबत है वो कहते हैं जब तक दिखा ना देंगे तब तक मानेंगे नहीं और सब शास्त्र कहते हैं कि जब तक मानेंगे नहीं तब तक देख ना पाएंगे और मानना भी सिर्फ बुद्धि से नहीं क्योंकि बुद्धि के मानने से कोई नहीं देख पाता बड़े पंडित हैं जगत में जो बुद्धि से मानते उनको भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा हृदय से जो मानेगा तो क्या करें क्योंकि जो मान सकता है वो मान सकता है उसको हम छोड़ दें उसको हिसाब में लेने की कोई जरूरत नहीं वो अपवाद अधिक लोग तो नहीं मान सकते हैं इनके लिए क्या किया जाए क्या इनको तर्क दिए जाएं जिनसे सिद्ध हो जाए कि वो है जितने तर्क आज तक दिए गए सब फिजूल है क्योंकि किसी तर्क से कुछ सिद्ध नहीं होता और नास्तिक सभी तर्कों का खंडन कर देते अगर तर्क में ही लड़ना हो तो नास्तिक हमेशा जीतेगा आस्तिक हमेशा हारेगा जीवन में आस्तिक जीत जाता है लेकिन तर्क में सदा नास्तिक जीतता है आज तक कोई भी आस्तिक नास्तिक से जीत नहीं सका है ये सुन के आपको हैरानी होगी आस्तिक कभी ऐसा कहते नहीं लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कोई आस्तिक कभी नास्तिक से तर्क में जीता नहीं जीत ही नहीं सकता क्योंकि जो उसका आधार है वो अतर्क अतर्क वो जीतेगा कैसे नास्तिक सिद्ध कर सकता है कि नहीं है क्योंकि आपके सब तर्क तोड़े जा सकते हैं आस्तिक ने जितने तर्क दिए हैं सारी जमीन पर वो बंधे बंधाए हैं पिटे पिटाए हैं उनमें कुछ नया नहीं या तो तर्क यह है कि जगत का कोई बनाने वाला होना चाहिए लेकिन नास्तिक पूछता है कि अगर हर चीज को बनाने वाले की जरूरत है तो परमात्मा को बनाने वाला कौन मुसीबत खड़ी हो जाती फिर परमात्मा के भी और कोई परमात्मा फिर उसके पीछे कोई और परमात्मा इन्फिनिट रिग्रेस फिर अंतहीन खड्ड हो जाता उसमें कोई हल नहीं कहीं भी जाओ नास्तिक पूछेगा फिर इसको किसने बनाया और अगर आप कहो कि नहीं जगत को बनाने वाले की जरूरत है और परमात्मा को बनाने वाले की कोई जरूरत नहीं तो नास्तिक कहता है जब बिना बनाए परमात्मा हो सकता है तो जगत बिना बनाए क्यों नहीं हो सकता सीधी बात है साफ बात है जब आप मानते ही हो कि कोई चीज बिना बनाई हो सकती तो फिर कोई कठिनाई नहीं रही जगत बिना बनाया हुआ है तो आस्तिक बेईमान मालूम पड़ता है कि जगत के लिए वो ये नियम नहीं छोड़ता बिना बनाया और परमात्मा के लिए यही नियम छोड़ता है फिर नास्तिक कहता है कि जगत दिखाई पड़ता है अगर नियम ही बनाना है तो यही नियम ठीक है कि जगत बिना बनाया अनक्रिएटेड परमात्मा तो तुम्हारा दिखाई नहीं पड़ता इसको व्यर्थ बीच में लाने की क्या जरूरत है और आखिर में तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ता है कि परमात्मा बिना बनाया हुआ है तो बिना बनाई हुई घटना घट सकती है तो जगत बिना बनाया क्यों नहीं घट सकता आस्तिक के पास कोई उत्तर नहीं सच तो यह है कि आस्तिक तर्क देते नहीं ये पंडित हैं जो तर्क देते रहते हैं कि है और पंडित नास्तिकों से हारते रहते हैं नास्तिक से कोई आस्तिक पंडित जीत नहीं सकता नास्तिक जिस भूमि पर चल रहा है वहां तर्क सार्थक है आस्तिक जिस भूमि पर चल रहा है वहां तर्क का कोई संयोग ही नहीं संबंध ही नहीं आप दूसरे की भूमि पर लड़ने जाएंगे हारेंगे लेकिन जीवन में आस्तिक जीतता है नास्तिक हारता है एक भी नास्तिक बुद्ध के जीवन को नहीं पा सका एक भी नास्तिक महावीर की गरिमा नहीं पा सका एक ही भी नास्तिक जीसस की करुणा नहीं पा सका एक भी नास्तिक कृष्ण जैसा नृत्य से भरा हुआ नहीं देखा गया है तो नास्तिक जीवन में तो बुरी तरह हारता है लेकिन बुद्धि में नास्तिक की बड़ी गति है वहां उससे जीतने का कोई उपाय नहीं अब सवाल यह है कि तर्क में जीत के भी होगा क्या